तो वहाँ अभी हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे तब हाँ हाँ हाँ उन्होंने वहाँ गए उन्होंने बहुत सहायता की वो पुतिन को बताया इसकन को अच्छी जमींदन और पुतिन का प्रभाव से इसका बहुत मॉस्को में ही बन रहा हाँ, है मॉस्को में बहुत अच्छी भूमि मिली मॉस्को का or red square, say, दो say से कम दूर ऐसा तो वहां के लोगों ने में भारतीय संस्कृति के प्रति कैसी जिज्ञासा नहीं तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं कोई है जो बिल्कुल विविध है अनुभव चाहिए हमारी संस्कृति के विरोध है अनुशासन है यहाँ देखते हैं हम मांसाहारी है लेकिन बहुत भक्ति तो वहाँ शुरू में वहाँ के लोगों के द्वारा बहुत हमारे इस्कॉन मंदिर में और इसको मंदिर के बारे में ऐसा हुआ था कि आ, हाँ, नहीं कर हाँ, हाँ। सकता है और आ, वो, वो अभी अभी तक चलता है अभी तक चलता है अभी नहीं वो अभी कोई संकाश उसका सूर्य हो गया अभी अभी सही हो भूमि भूमि दान हो गया है देखना हो भूमि पूजन अभी हुआ है या मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ नहीं वो साल साल तो इक्कीस साल का जो दिए है तो अभी वो दूसरे लोग का चाप से तो अनुमति नहीं देते निर्माण करने और कदम हो अवकदम ऐसे है शास्त्र में वैसे श्रेयाम की बहुविज्ञानी श्रेयताय में बहुत विज्ञा होते कि भक्ति मार्ग यह संघक की युद्ध इस भौतिक भक्ति मार्ग को की संकट विज्ञान मिल गया है तो उनके कारण हमको जमीन तो मिल गई पर अभी निर्माण का कार्य संघर्ष में है हाँ, हाँ, हाँ, हम देखेंगे सब असंभव संभव हो कोई सूचे यही सर्व शक्तिमान है यही नायक है वही जगन्नाथ है छोटी सी भूमि की कोई बात नहीं है पूरा तो जगत मगर आपकी संपत्ति है लेकिन ज्यादा में बात इसको तो विस्तार स्वीकार नहीं करें इसलिए जगत में बहुत प्रकार कष्ट होते हैं आपने शुरू में बताया कि यहाँ के लोग जो हैं अभी आप तो पूरा यहाँ के लोग शाकाहारी है प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और शिखा रखते हैं हालांकि मेरी है हम्म। पर पैंट शर्ट पहनने लगते हैं तो आपको कैसा लग रहा है आपने संन्यास लिया और यहाँ आके पूरा देखते हैं तो आपको क्या लगता है इस भक्ति जीवन नहीं नहीं नहीं यहाँ शुरू से हाँ जब तो ऐसा कुछ हुआ यार मैंने तो ये क्या कर दिया क्या हुआ और पहली बार जब भक्तों का दर्शन और सत्संग मिला तो सोचा कि ये लोग बहुत सीरियस हैं hmm. क्योंकि ऐसा ड्रेस पहनना और तिलक रखना तो इसका मतलब है तो अगर पागल नहीं हो hmm. तो धर्म में बहुत सीरियस है hmm. तो पागल हो सकते अथवा गंभीर पूरी गंभीरता के साथ धर्म पालन करते हैं इनसे चर्चा करने से समझ लिया कि पागल नहीं है तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है और परम धर्म पालन करते हैं और अब इतने सर साहस है पाश्चात्य देशों में ये यही कपड़ा पहनना और तिलक लगाने तो बहुत साहस है लेकिन इसका मतलब है तो एकदम अस्वस्थ है कि यही जीवन पालन करना और प्रचार करना सर्वोत्तम धर्म है तो आपको कुछ डिफिकल्टीज हुई बाहर विदेश में ऐसा वेश परिधान करके तो उस समय था अभी अभी अभी नहीं है अभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं इंडियन रिस्पेक्ट कोई कोई रिस्पेक्ट करते हैं नेपाल तो और बहुत से लोग अच्छा लगते हैं अच्छा। तो सोचते हैं कि ये हरे कृष्ण वाले अच्छे लोग हैं क्योंकि हम नागा कीर्तन करते हैं रास्ते रास्ते में मृदंग कारताल लेके कीर्तन करते हैं तो विशेषकर इससे बहुत लोग हमको बहुत लाइक करते हैं मतलब सोचते कि इस uh, हम सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम सदैव हासमुखी है और वो लोग तो बहुत अच्छा लगते हैं क्योंकि खस पश्चात्य देशों में तो सब लोग सदैव बहुत चिंतित रहते हैं और हमको देखने से तो हम तो निश्चिंता है तो हमको देखने से वे भी निश्चिंतित होते हैं भारत और यहाँ के विदेश के लोग और भारत के लोगों में क्या अंतर पाया आपने तो भारत के लोग तो मतलब भारत में भी बहुत प्रकार के लोग हैं लेकिन सामान्यतः तो यही बोल सकते कि इस इस देश में कृष्ण भक्ति के बारे में कुछ स्वाभाविक ज्ञान है और और कृष्ण भक्ति और पूरी वैदिक संस्कृति के बारे में शास्त्र में भी कहा कहा जाते हैं कि पूरी विश्व में भारत श्रेष्ठ देश क्योंकि इस देश का वातावरण सबसे अनुकूल है धर्म पालन करने के लिए तो बहुत संत ऋषि मुनि और भगवान के स्वयं अवतार विशेषकर इस देश में आए थे और आज भी उपस्थित है और भविष्य में आएंगे लेकिन कंस जरासंध रावणव वे सब भी भारतवासी थे भारतवासी थे तो नहीं है कि केवल भारत में जन्म लेने से सब संत होते ऐसा नहीं है लेकिन सामान्यतः लोगों की स्वाभाविक रुचि और आकर्षण होते हैं भक्ति मार्ग में बहुत दुख की बात है कि आज का आधुनिक संस्कृति का प्रभाव से भारतीय लोग अपनी संस्कृति भूल जाते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति अत्युत्तम है तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर से लोग आ रहे हैं हमारा हमारी हम्म। संस्कृति को सीखकर हमको सिखा हाँ, रहे हैं हाँ, हाँ। तो ये तो, तो जगत जगत उल्टा हो गया है <laughs> नहीं क्या है आज का लोगों का यातायात बहुत होता है और टीवी का माध्यम से तो तो इस इस वो भारतीय संस्कृति पाश्चात्य जगत में जाते हैं और वो संस्कृति तो, इस जगह तो आपको में आपको क्या ऐसा लग रहा है कि भारत में पश्चिमी संस्कृति आ गई और विदेशों में अभी भारतीय संस्कृति का और बहुत आकर्षण नहीं ऐसा नहीं है कि अमेरिका हाँ, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सब भारतीय बन जाते हैं हम्म। हम लोग लेकिन इसका प्रभाव है प्रभाव है कुछ प्रभाव है जैसे यहाँ हर एक में थोड़ा अमेरिका का प्रभाव है ऐसा वहाँ गुजराती का गुजरात के प्रसिद्ध नागरी है अहमदाबाद राजकोट सूरत बड़ौदा नहीं तो शिकागो न्यूयॉर्क नायरोबी लंदन वहाँ सब में तो आपको गुजरात समाचार लंदन में भी प्रकाशित होता है गुजराती भाषा में अब तो न्यूयॉर्क में भी हमारा दिव्य भास्कर भी शुरू हो गया अच्छा तो इसके इन सब का उपा, उपाय क्या है गीता में आधुनिकता से छूटने के लिए नहीं मतलब यही आधुनिक जीवन शैली चलेगी लेकिन साथ साथ कृष्ण को नहीं भूलना हरे कृष्ण भक्ति विकास स्वामी जी हाँ और पूर्वाश्रम का नाम क्या है भूल गए वो इस्तेमाल नहीं करते ओके खाली वो पासपोर्ट में नाम है और जब देश आता हूँ जाता हूँ तो वो लगता हर एक जीवन में हर एक नाम मिलते हैं लेकिन यही नाम भक्ति विकास स्वामी आध्यात्मिक नाम है मैंने कई पुस्तक लिखी तो इसमें वो सब कितना हो गया है अभी तेरह चौदह ऐसे। On Krishna consciousness related topics. आपको देखाऊंगा Brahmacharya in Krishna consciousness. A message to the youth of India. Shri Chaitanya Mahaprabhu glimpses of traditional Indian life आपको देखो और अबाउट हाँ, फोर्टीन हिंदी गुजराती रशियन बहुत से भाषा में अनुवादित और प्रकाशित है हरे कृष्ण तो अभी आपको बुक